थोड़ा से चल करके माध्यम में थोड़ी दूर आगे चल करके उन्होंने अपना सतीक्षण में आश्रम किया जब उत्तर जी के साथ में भगवान दक्षिण की तरफ चलने लगे आए बनों को पार करते हुए तो पहले आश्रम सतीक्षण का बन गया और वहाँ सतीक्षण भगवान का ध्यान करते हुए बड़े मन में रहा करते थे उन्हीं का ध्यान करते रहते थे उन्हीं की प्रतीक्षा करते थे नयन का बीवी का स्मरण करते थे अब वो जब उनको कृष्ण में उनको पता लगा भगवान आ गए तो भगवान को प्राप्त करने के लिए स्वागत करने दर्शन करने के लिए निकल पड़े वहां से कुटी से रास्ते में आकर के बैठ करके और भगवान का हृदय है उनका भगवान का ध्यान करने लगे बार बार याद आ जाए उनको भगवान को तो बैठ करके उनका ध्यान कर भगवान उनके पास आ भी गए और पास खड़े भी उनके हो गए लेकिन वो आंखें न खोले अपने हम्म, वो अपने भगवान का ध्यान अपने हृदय में कर रहे हैं हृदय उनको भगवान दिख रहे हैं तो उसी जाने में निर्णय है और भगवान साक्षात बाहर खड़े हैं तो उनको देखने की फुर्सत नहीं उनको जैसे कैसे करके जब उन्होंने हृदय में भगवान ने ही स्वयं अपना रूप वहां पर वहां से गायब कर दिया में से जब तो देखा हृदय नहीं दिखाई देते तो क्या ये क्या होगा अभी तक तो कभी हृदय से भगवान हमारे जाते नहीं थे अब ये हृदय से कैसे चले गए कैसे दुश्मन हो गए और जैसे घबरा करके उन्होंने आंखें खोल दी आंखें खोली तो भगवान सामने खड़े दिखाई दिए ऐसे भगवान मिले तो देखो पहले जब भगवान हमें नहीं मिलते हैं तब बाहर ये सब के सब हाथ में एक कथाओं के द्वारा जो है वो धीरे धीरे करके ये सब शिक्षाएं हैं कि किस प्रकार से भगवान कैसे साधनाएं की जाती हैं कैसे ध्यान आदि किए जाते हैं कैसे भगवान में प्रीत की जाती है ये सब के उदाहरण हैं सब कथाएं हैं तथा तो ब्रह्म सुतीक्षण प्रीत पुण्य अपूर्व अगस्त सत्संग तो सुतीक्षण मुझे कहने लगे कि भगवान अब आपको तो चलो अब आप तो अगस्त इसके आश्रम जारी रहो और हम भी आपके साथ चलेंगे हम्म? तो भगवान समझ गए कि साथ चलने का इनका क्या प्रयोजन है ये हमको साथ लेकर के जा करके सुतीक्षण जी उनको अगस्त उसको मिलवाएंगे चल करके तो कहा अच्छा चलो तो सुतीक्षण में चले भगवान राम साथ साथ आगे चले तो जैसे अगस्त इसका आश्रम आया सुदर्शन में जल करके अगस्त इसके पास पहुंचे लाए भगवान आ गए चलो <laughs> भगवान राम भाग में पहुंच पाए किसी सगन पहले पहुंच गए उनको से उसको बता दिया ऐसे अपना के तो पुण्य प्रभु अगस्त के सब और भगवान अगस्त इसके आश्रम में पहुंचे तो वहां की अपनी विशेषता कथा है भगवान अगस्त कृष्ण भी पहचान गए भगवान हैं उनके दर्शन भी प्राप्त हुए अगस्त कृष्ण ने भगवान की वंदना की और उसके बाद फिर अगस्त कृष्ण भगवान ने भगवान सब विष्णु मुनियों से मिलते हैं और उनसे पूछते रहते हैं आदेश लेते रहते हैं आज्ञा लेते रहते हैं क्या करें क्या करें कहाँ जाए क्या करें ये सब पूछते रहते हैं ये नहीं होता कि अपने मन से सब करते चले जाए ये नहीं हम तो भगवान ही हम दुनिया को सबको बता सकते हैं किसी ने क्या पूछना है तो जब मैं लीला कर रहा हूँ तो बराबर पूछते रहते हैं उन्हें सबसे जैसे बालवीर से पूछा हम जाकर कह रहे हैं जैसे हरदागर से पूछा कि हम किधर से गए ऐसे यादव उसके पास आए तो पूछने लगे कि इनका सत्ता पृथ्वी का भारहरण करने के लिए छात्रों का बद कैसे किया जाए तो फिर अगस्त उसने बता दिया अगस्त उसके पास कुछ अस्त्र भी थे दावा भी जिससे उनको रानी को मारना था वो भी सब दे दिया अगस्त उसने भगवान राम को और उनको युक्ति भी बता दी कि किस प्रकार से रानी बद निशाचरों का बद कैसे होगा तो वहीं से निश्चय किया गया अगस्त इसके आश्रम से उसके बाद में फिर क्या होता है वैसे आगे भी कथा कहीं गंडक बन पावन पाई जीवन पूरी प्रभु पंच बचे कृत रंगे सकल निमिति लक्ष्मण उपदेश अनुपा रूप में कहा गुरु के निकुरूपा और दूसरे पद बहुत बचाना जिन सब नरम बसाना न जाना दस कंधर नारीस बत कही विधि भैस सब कही कही

करुणारद संवादित नारुत मिलनत संग बाल प्राण कर भंग कपी तिलक कर प्रभुत्र का शैल प्रभव संवास बरमन बरसा कर बोरू राम रोष कपिरास रामचंद्र जी के आश्रम पहुंचने पर उन्होंने वहीं पर इनको ठहरने के लिए कहाँ पर अब स्थान बनाना भगवान ठहरे कहा दंडक बनने तो उनका बात भी बता दिया अगर कृष्ण ने तो कई दंडक बन पावन पाई फिर भगवान दंडक बन पहुंचे तो वो दंडक बन की पावन पाई पवित्रता कही तो मैं बन पहले सात वृक्ष का स्थान था जहाँ उजाड़ सब पड़ा हुआ था जहाँ पेड़ पौधे भी पैदा नहीं होते थे बन नहीं रहता बन था लेकिन सब हो गया बन कला हुआ था वहां पर फूल फल इत्यादि कुछ नहीं होते थे पक्षी इत्यादि बात नहीं करते थे तो जब भगवान वहां पर पहुंचे तो वो तो बन जो है वो साप मुक्त हो गया साप भी यही था जब भगवान आएंगे तभी बंधक बन का साप मुक्त होगा पवित्र होगा जब भगवान वहां जाकर के बात करने लगे तो फिर बंधक बन फिर हरा भरा हो गया उसमें सब फल फूल सब होने लगे सब चारों तरफ हरियाली छा गई सुंदर बंदा गुलचा हो गया तो उसका भी वर्णन फिर किया और जीव मैत्री पुन के गाई और फिर भगवान जब वहाँ पर दंडक बन में जाकर के बात करने लगे तो वहीं पर पहले जटायु मिला जीत में जटायु ये जटायु जब वो हो वही बात करता था तो उनसे भगवान जाकर मिले जटायु की और महाराज दशरथ की मित्रता थी इसलिए भगवान भी जटायु का बड़ा आदर करते थे जैसे कि अपने पिता का मित्र होने के नाते उसी भाव से उनको देखते थे तो उनकी बड़ा आदर सत्कार किया और जटायु ने भी भगवान राम को कहा कि अच्छा तुम यही बात करो तो उनको कुछ बात हुई तो मित्रता उनकी हुई तो जीव मैत्री पुण्य पुल जाई और पुण्य प्रभु पंचवती प्रभाषा फिर भगवान ने वहीं पर पंचवती ने भगवान ने वास किया वहीं उनके ठहरने के लिए कुटिया बनी पंचवती हम्म, से करके तिनको से बना करके घास फूस की कुटी बना करके पर भगवान वही रहने लगे और सकल मुनि के प्रासा और बंधक बन में रहने वाले जितने वहां पर रहने वाले संत महात्मा थे उन सबका भय दूर कर दिया वहां निशाचरों का दास था और वो लोग ऋषि मुनियों को पूजा तपस्या नहीं करने देते थे उनका सामान चुरा लें उनको मारें उनको यज्ञ करने दें उनको अनेक प्रकार के कष्ट दिया करते थे ये सब था वहाँ पर तो सब लोग ऋषि मुनि जाकर भयभीत रह थे परेशान रहते थे जब से भगवान जाकर के वहाँ उनका बात हो गया तब से फिर वो हो उन निशाचरों का भय उनको दूर हो गया भगवान ने उनको सबको निर्भय कर दिया सब तुम निर्भय होकर के तब करो निशाचर आएंगे तो फिर देखेंगे उनको जो है उनसे तुमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं सबसे वो सब निर्भय हो गए तब हिन्दी सकल मुनि देख रहा था और पुण्य लक्षण में उपदेश अनुपा है और फिर भगवान जो है वहीं पर अरण काल की कथा है जब भगवान वहीं पर बात कर रहे थे तो उसी समय एक बार भगवान राम एक स्थान पर एक वृक्ष के नीचे शाम के एकांत में बैठे हुए थे लक्ष्मण जी ने सोचा कि भगवान से इस समय छुट्टी है सीता जी भी यहाँ नहीं है वो कहीं अपने काम में लगी होंगी तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि उनसे कुछ आध्यात्मिक चर्चा की जाए कुछ प्रश्न पूछा जाए भगवान जैसे उपदेश कहाँ मिलेंगे ऐसे सोच करके फिर वो लक्ष्मण जी ने उनके पास बैठ करके कुछ प्रश्न किए भक्ति किसे कहते हैं ज्ञान किसे कहते हैं वैराग्य क्या है ये सब उन्होंने ज्ञान वैराग्य भक्ति त्याग के संबंध में प्रश्न किए परमात्मा क्या है माया क्या है ये भी सब पूछा तो भगवान ने सबका वर्णन किया वहां पर फिर उन्होंने एक एक करके सब बताया कि माया क्या है ये भी बताया ज्ञान किसे कहते हैं फिर भक्ति का भी वर्णन किया भक्ति कैसे प्राप्त होती है ये भी वर्णन किया तब लक्ष्मण जी को सब उपदेश भगवान ने समय दिया है तो वो पूर्ण लक्ष्मण उपदेश उठा और सूख लिखा जो निकलने को उठा बस लक्ष्मण उपदेश के बाद ही फिर सूख मिठाई घटना शुरू हो जाती है तो उसके बाद एक बार जो सूख मिठा फिर वहां आती है फिर उसका परिचय देते हैं कि सूख मिठा कैसी है रावण की बहन है और ऐसी है जैसे कि सरपनी है ऐसे करके उसका वर्णन करते हैं वो सुंदर रूप बना करके कृपा थी लेकिन सुंदर रूप बना करके वहां कराती है और फिर भगवान राम से विवाह का प्रस्ताव रखती है भगवान लक्ष्मण के पास भेज देते हैं तो लक्ष्मण के लिए विवाह का प्रस्ताव रखती है लक्ष्मण जब फिर भगवान राम के पास भेज देते हैं तो फिर भगवान राम उसको लक्ष्मण के पास भेज देते हैं तो जब भागी भागी करती है तो वह बहुत क्रोधित होती है और सीता जी को डरवाने लगती है तब पर भगवान राम ने लक्ष्मण से उसके इशारे से कहा कि उसके नाक काम काट गया और इसको मारना वारना क्या है आगे का त्रिवेणी से मनो चुनौती दी गायों को चुनौती देने के लिए उसकी बहन के नाक काम काटो तब आगे की कथा बढ़े नहीं तो कैसे आने आगे कैसे युद्ध हो तो बैल बढ़ाने के लिए ये कथा यहाँ से शुरू की पर उनको तो उसकी नाक काम काट ली तो सूख में दिन की रूपा उसे प्रूव कर दिया तब लोग बात में कई बात होती ब्राह्मण के लिए तो ये चुनौती बन गई और सूप में खा के अपने करने सफल हो गया उसे वो बड़ी सुंदर बनकर के दिखा रही थी उसको मैं काम काट लिए तो जैसी की तैसी फिर हो गई उसकी सारी सुंदरता खत्म हो गई तो कहते हैं कि खरदूषण बड़े बहुत बखाना है और उसके बाद वो सूप में का दौड़ करके वही खरदूषण वहां राजा थे तो उनको जाकर बताया खरदूषण और तीसरा ये तीन भाई थे इन तीनों जब उसको जाकर बताया कि इस इस प्रकार से हमको दंडक बन में आए हुए राजकुमार जो है वो बड़े शक्तिशाली है उन्होंने मेरी नाकाम कर ली और देखो जैसे मेरी कर ली बहुत हल्ला गुल्ला उसने मचाया करके तब खरदूषण अपनी सेना लेकर के लाखों की सेना हजारों की सेना राक्षसों की लेकर के और वो पहुंचे सूच में खाया गया आगे चली और उसने रास्ता बताया और वहां जहाँ पर भगवान ठहरे हुए थे वहाँ पर सेना लेकर के आ गए तो भगवान राम ने देखा कर एक सरसों को बड़ी सेना चली आ रही है बड़ी भूल रही है बड़े अपने भरोसे अंतर रहे तब लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण तुम सीता जी की रक्षा करना और उनको के किनारे उनको बैठाई दिया और अपने आप स्वयं अकेले उनसे सबसे लड़ने के लिए गए खरदूषण बद बहुरी बखाना फिर खरदूषण से उनका युद्ध हुआ भगवान का और उन सारी सेनाओं की मार दी खरदूषण को भी मार दिया वो सब पराजित हुए और जिन सब मरण के सामने जाने और फिर जब देखा तो उसमें सूर्य सामने खड़े खड़े देखा दोनों का युद्ध और उस युद्ध में खरदूषण की बड़ी सेना को मरते देखा तब उसको समझ में आया तो बड़े शक्तिशाली एक अकेला व्यक्ति इतनी हिंसा की सेना को मार दे तो वो वहां से रानों को जाकर के बताया जाकर के लंका में गई और वहां कहा कि तुम यहां बचे सो रहे हो कैसे पानी और हमारे दिखाना ऐसे करके कहा कि तुम क्या राजा राजा यहाँ पर बने बैठे हो तुम्हें ये पता नहीं है कि तुम्हारे राज्य में कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है और प्रदूषण को मारे गए उनकी सेना से मारी गई और तुमको पता नहीं तक नहीं ये सब जाकर मिलता जाकर के सभा में तब आनंद ने पूछा असर हो क्या गया क्या है तब उसने बड़ी मुश्किल से बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है तब आमिर की चिंता हुई कि क्या करना चाहिए उससे कहा कि अच्छा तुम जाओ विश्राम करो अब इसकी हम व्यवस्था करते हैं रावण रात भर सोचता रहा प्लान बनाता रहा सब क्या करें क्या करें अब वो सोचता रहा कि उसके मारे कि प्रदूषण मिशन बलवंता हमारे समान बलवान थे उनको जब मार दिया इसके मैंने बस हमारा जीवन का अंतिम समय आ गया अब हम भी अब बच नहीं सकते ये उसी उसी समय से लगने लगा फिर वो तैयारी करने लगा कि युद्ध करके तो हम जल्दी ऐसे पार पाएंगे नहीं इसलिए कोई युक्ति लगाई जाए तो उसने पहले सीता हरण का प्रोग्राम बनाया तो फिर उसने क्या किया सिकंदर मारीच बट कही तो दस कंदर राम और के पास गया और उससे कहा कि चलो तुम हमारी सहायता करो हमें सीता जी को हर करके लाना है और बताया कि देखो सूचना खा के इस प्रकार से मैं काम काट रही है उसका बदलाव उनसे लेना है उनको सीता ही उठाना है उनके इस प्रकार से बताया उसने तो मारीच ने समझाया बहुत बट कही के मानो ये कि मारीच में रावण को वहीं से शिक्षा मिलने लगती है अब देखो रावण को सब समझाते हैं इसके बाद एक के बाद समझाते हैं नारी सबसे पहले समझाता है इनको अरे तुम कहा चक्कर में पड़े मुझे पूरा अनुभव है कि कैसे विश्वामित्री जी के यज्ञ में वहां पर हम थे तो उन्होंने बिना फल का दान हमको मार दिया वहां से उड़े वहां से और उस बाणी में ला करके हमको यहाँ आकर करके समुद्र किनारे बम्बई के पास यहाँ करके कहा वो वहां पर बिहार और वो स्थान <clears throat> उत्तर प्रदेश का उत्तर भारत और कहा ये बम्बई इसकी दूर आकर के हम आकर के हमें पता चल गया कि उनकी शक्ति कितनी है उनकी बाणों में कितनी शक्ति है तुम उसे पार नहीं पा सकते तो रावण उसकी बात को सुन करके बुलाया अच्छा तुम हमारे गुरु बने हो तो हमें शिक्षा देने चले हो ऐसे करके बोला उनको बहुत डांटा उसको कहा कि तुम हमारे साथ नहीं चलते तो देखो ये तलवार हम तुम्हारा ये सब काट लेते हम्म। तब उसने कहा अच्छा जब मर नहीं है तो उसके हाथ उसमें साचर के हाथ क्या मरे चलो घर में की हार मत तो ऐसे करके रावण के साथ चल दिया और वहां पर सोने का अमृत रूप धारण करके जब सीता जी को लुभाया तब जय भी दिखाई सुसब कोई कही और पुण्य माया सीता कर हरना फिर उसने माया में रूप धारण करके हिरण का रूप धारण किया स्वर्ण मृत सीता जी ने भगवान राम को शहरण को मारने को छाला बनाने को बड़ा आग्रह किया भगवान राम ने बहुत समझाया कहा कि तो देखो इन बातों के चक्कर में तुम पर पड़ती हो कहीं सोने के मृग होते हैं आज तो कहीं सुना को तो नहीं अरे तो सोने के पहले क्या सोने के मृग सुनने सुना नहीं बात क्या अरे ये धन है ये सोने का नहीं है ये सब मुसाकरी लीला है इस प्रकार का ये कर रहे हैं सीधा देख नहीं है सब हम्म? नहीं ये सब कुछ हम कहीं सोने का तो भगवान ने कहा क्या मना लक्ष्मण जी से कहकर के भगवान कहे छठ मन की रक्षा करना देखना और हम जाते हैं उसको तो भगवान उसके पीछे मारे के पीछे दौड़े दौड़ते दौड़ते बहुत दूर ले गया वहां जब मारा <clears throat> तो वो महाराज <clears throat> लक्ष्मण जी का नाम लेकर के उसने बुलाया तो सीता जी ने लक्ष्मण जी को वहां भेज दिया और यहां पर तब तक रावण ने आकर के सीता का हरण कर लिया ले गया सीता जी को जब ले गया भगवान राम लक्ष्मण लौट करके वहां आए वहां देखा कुटी में सीता जी है नहीं आसपास धुआं कहीं मिली नहीं तो बस समझ गए कि अब जो वो हो सीता जी को कोई ले गया तो पुण्य माया और सीता कर हरना यही रहा है कि माया को माना मारिच की माया भी है और माया को माना सीता जी भी माया से है कुल हाँ? माया सीता सीता माया वही सीता का हाल हो गया अब माया कैसे सीता जी के लक्ष्मण पहले जब समय भगवान समझ गए थे कि अब तो सुबह के माता अंत भी गए हैं अब तो जो है ये सब दूसरे से मरे गए हैं इसको उन्होंने आगे क्या होना है आगे ये होना जो है वैसे धारण करेगा तो इन सीता से पहले उन्होंने कहा कि तुम जो है वो हो अग्नि में प्रवेश करो और एक माया नई सीता बना करके रखो अपनी नकली अपना रूप बना करके रखो सीता हरण करो तो नकली सीता ले जाए तो मैंने ले जाए हम्म। तो बिजली की सीता तैयार करी गई और वो आश्रम में स्थापित की गई लक्ष्मण जी को नहीं बताया गया नहीं तो लक्ष्मण जी सब में करके कबीर तो के रखा तो कभी क्या इसलिए जो है उनको फिर बाद में भूल है तो लक्ष्मण जी का भी भूलते जाते इसलिए लक्ष्मण जी को भी नहीं बताया गया छिपाए रखा गया तो सीता जी उनको लिए गाँव आया तो उन्हें डुप्लीकेट सीता जी का हरण कर दिया वही वहां पर रखी गई जाकर के वन अशोक बन में ले गया तो फिर भगवान ने प्रिय लीला इस प्रकार से चलती है सीता हरण की लीला चलती है लेकिन दुखनी के सीता के हरण पर भी भगवान रोते हैं तब रोते हैं तो बनावटी रोते हैं ना देखो तो कभी कभी तो ऐसे रोने लगते हैं भज रो रहे हैं जब बनावटी कोई रोएगा तो बहुत रोएगा असली रोता है तो बहुत बड़े लगता है लेकिन जब बनावटी रोता है तो बहुत होता तो कहीं कहीं जो है वो किसी को मरने पर रोने वाले बुला जाते हैं जब घूमने वाले आते तो प्रभाव पर आते हैं और आकर के प्रभाव बार भरा होता है तो बैठते हैं सब बैठते हैं और जब वो चिल्लाते हैं बैठ कर बताते नहीं खाते पीटते हैं उसको बैठते हैं गिरते हैं पूरी चीज चीज से होती है सब करती है तो इस प्रकार से उसमें जैसे वो होते हैं इसी प्रकार से भगवान ने फिर बहुत रोना धोना मचाया जैसा श्री रघुवीर गिरा कछ बरना फिर भगवान ने अपना ग्रह दिखाया बहुत रोना धोना मचाया ये सत्या लक्ष्मण जी बहुत परेशान हो गए कि भगवान को क्या हुआ है क्यों हो रहे कभी इतना दुखी नहीं हमने देखा है ये सब तो लक्ष्मण जी ने बहुत समझाया भगवान को कहा भगवान कभी आपको ऐसे दुखी होता है तो आप क्यों इतना दुखी होते हैं सीता जी कहाँ गई होंगी जहाँ कहीं भी होंगी हम ढूंढ करके लाएंगे आकाश में होंगी स्वर्ग में होंगी आखिर तो कहीं ना कहीं होंगी जहाँ होंगी वहां से हम ले आएंगे आप इतना दुखी मत हो लेकिन भगवान नहीं रोते रोते फिर कोई प्रगति की क्रिया आगे खोजते खोजते रोते हुए ढूंढते हुए आगे जा रहे थे तब तक वो देखा कि वो जटाई जो वो ढाल खड़ा हुआ था जब राम लेकर सीता जी को चलने लगा तो जटाई ने उसको रोका रामों को सीता जी को नहीं ले जाने दिया तो उसमें दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो रामों ने अपनी तलवार से काट काट कर सतंखन के काट दिए घायल कर दिया था और फिर तो सीता जी को ले गया था तो वो जटाई घायल खड़ा हुआ था शरीर छूटने वाला था तब कहते हैं कुल प्रभु जीव या अर्जुन की भी युद्ध के साथ मिले तो भगवान ने वैसे तो कहा युद्ध से कि तुमने बड़ा इस प्रकार का कार्य किया और वहीं कहा पढ़े तो दस दिन के मन माही तुम कहा दुर्लभ कक्ष माही ऐसे सब बात वहां पर आई तो भगवान ने बड़ी प्रशंसा की कि तुमने इस प्रकार से ये कार्य किया लेकिन आज तुम चाहो तो हम तुम्हारे शरीर को रख लें उनके ऊपर हाथ हाथ कहा तुमको स्वस्थ कर दें तो उसने कहा नहीं नहीं बहुत दिव्या बुद्धे हो ही गए थे मरने को वैसे ही थे अब इस प्रकार से ये कार्य किया तो उसके बाद अब हम जीने की इच्छा भी नहीं है अब आप हमारे सामने हो तो इसी समय भगवान के सामने ही उसने भगवान की गोद में शरीर का जैसे मरने वाले एक से एक जो है वो तो है तो वो देखो भगवान उसको जो है घायल अवस्था में मरणासम अवस्था में गोद में दिए उसका शरीर रखे हुए थे बस वहीं पर उसने शरीर कर दिया तो वो भी दिव्य रूप धारण करके शंख चक्र गदा करने लिए भगवान का पार्षद विष्णु रूप बना करके वो बताए जो है शरीर छोड़ करके दर्शन काम चला गया तब भगवान ने फिर उसकी उसकी क्रिया जितनी थी शरीर उसके शरीर शांत की वो सब अपने हाथ से की भगवान ने की संग्रह करने वाला कोई था नहीं भगवान ने अपने हाथ से स्वयं बड़े प्रेम पूर्वक की तो फिर कहते हैं कुल प्रभु जी क्रिया दिन की और बड़ी कदम सवरे गति दीवी फिर उसके बाद आगे जब उसको कार्य आगे चले तो कमल भी शासन मिल जाए वो भी यक्ष था शापित था दुर्वासा ने उसको साथ दे दिया था तो वो कदम मिला तो भगवान ने उसको कदम को मारा और उसके बाद आगे बढ़े तो फिर सबरी के आश्रम में भगवान पहुंच गए सबरी के आश्रम सबरी प्रतीक्षा कर रही थी फिर उसका बहुत किया कि सबरी को भगवान ने कैसी भक्ति थी सत्ताधर में हुआ जैसे भगवान को देखा बड़ी गड़बड़ हो गई उसके होश बात में रहे वो कहें कैसे आपकी प्रार्थना करें हम तो कुछ पढ़े लिखे नहीं है कैसे आपकी वंदना करें जब भगवान आते हैं तो सब लोग भगवान की वंदना करते हैं सूचना करते हैं अब जिनको कितना ज्ञान हो भाषा का ज्ञान हो इतना सब हो शब्द जानता है कोई कब आपकी वंदना करे हमको नहीं समझ आता ऐसे करके उसने अपने की हिंसा इत्यादि व्यक्ति की लेकिन भगवान ने कहा कि बस तुमको तुम्हारी हो गई वंदना हम वंदना नहीं कर पाते नहीं कर पाते यही सबसे बड़ी वंदना है और कहा कि देखो कि तुम जो हो तुम्हारे जैसा भक्त कौन होगा नौ प्रकार की भक्ति है और सब प्रकार से तुम्हारी भक्ति बल है सब भक्ति जो है प्रारंभ से कहा से सत्तम से लेकर के भक्ति प्रारंभ होती है और तुम्हें सरल स्वभाव प्राप्त होकर के व्यक्ति सहज जीवन जीता है और सबके साथ उदाहरण प्रेम भाव रखता है कहीं कोई आसक्ति नहीं होती है ऐसा जीवन अंतिम में भक्त का हो जाता है इस प्रकार के क्रमशः विकास की नौ श्रेणियां हैं वो अंतिम श्रेणी तक तुम्हारी स्थिति प्राप्त हो नौ में से कोई भी एक भक्ति स्थिति प्राप्त हो वही प्रकार हो जाता और तुमने तो नौ प्रकार के सभी प्रकार की भक्ति ऐसे भगवान ने उसकी प्रशंसा की फिर सबरी से भगवान ने पूछा दिए तुम बताओ कि सीता तुम कहा खोजे कहा मिलेंगे अब सबरी ने बताया भगवान को कहा कि तुम कंपा पर जाओ और कुछ जाओ वहां पर तो तुम मिलेंगे और फिर तुम्हें वो सब बताएंगे ऐसे सब करके सबरी ने आगे का तो बताया कि भगवान को क्या करना है तब देखो भगवान ने अपने भक्तों को सबरी जैसे भक्तों को एक तो मुक्ति प्रदान की और दूसरे उनको आदर प्रदान किया उससे सबरी से भी पूछ करके भगवान काम करते ऋषियों ने मुझसे पूछते कि देख बेटे वो गुरुजन है लेकिन भक्त जैसा कहा करके सबरी से हुई उसकी कहना कहा जाए कहाँ पता लगाए खोजे ये पूछते तो सबरी जैसे आप सब जानते हैं आपको क्या बताना है लेकिन फिर भी पूछा है तो बताते हैं तो उसने सबरी ने बताया कि हमने सभी के सामने था इस प्रकार से पूछ करके फिर सबरी ने भगवान के सामने अपने सभी क्या करेगा ये भी कहना फिर भगवान को मुक्ति दे करके उसकी सभी को मुक्ति दे करके फिर भगवान आगे बढ़ते हैं तो फिर जाते हैं पंथा पर जो कहते हैं कि भरी कबंध और सबरी की गतिविधि सबरी गतिविधि में शरीर शरीर का शरीर त्याग होगा उसके बाद फिर आगे बढ़ते तो बहुत बुरे बहुत पर रहा और भगवान उसके बीच में तो मैं बंद कर लिया था जब कबंध को मारा सबरी के पास लोग बाहर होते हो रहे थे वहां उनसे नहीं किया था लेकिन जब वो सभी को गति देकर के आगे चलने लगे तो लक्ष्मण राम अकेले अकेले बनने आगे बढ़े पत्र भगवान रोने लगे अपने ग्रह उनका होने लगा तो बीच बीच में रोने लगते तो बीच बीच चुप हो जाते हाँ? लगातार हाँ तो जैसे देव जी गए सरोवर पूरा फिर वहां से वह पंपा सरोवर था पंपा सरोवर के किनारे भगवान पहुंचे अब जब वह सरोवर में पहुंचे बड़ा सुंदर स्थान था वहां बैठे स्नान किया पानी पिया विश्राम किया लक्ष्मण जी भी वहां बैठे वहां फिर भगवान ने रोना धोना बंद कर दिया चुप हो गए और फिर तो लक्ष्मण जी से वार्ता बड़े प्रेम पूर्वक प्रसन्नता के साथ बातचीत करने लगे उसी समय फिर महाराज जी ने देखा कि अब इस समय भगवान सुरक्षित हैं लेकिन अभी तक तो बहुत रोज हो रहे उनको नारद जी को लगा कि हमारे साथ के कारण देखो भगवान रोने की लीला को करनी चाहिए कहा भगवान जो सदा आनंद कंद है और वो भी रोना रोना रोने रोए ये सब हमारा ही दुर्भाग्य हमारे साथ उनको दे दिया इसके कारण उनको सत्कार करना था तपस्यापात तो करते हुए भगवान के पास आए लेकिन तब आए जब भगवान चुप हुए वहां पंथा सरोवर और थोड़े बैठे हुए प्रसन्न बैठे हुए थे तब नारद जी ने आकर के भगवान को प्रणाम किया भगवान ने भी उनको प्रणाम किया नारद जी को और फिर उसके बाद फिर नारद जी ने पूछा भगवान को कि भाई अगर आपको तो ये सब कष्ट भोगने पड़ रहा है रोना धोना पड़ रहा है अगर उस समय जब हम विवाह करना चाहते थे तो उस समय में तो समय कर लेना देते तो ये बता क्यों होती अपने चार आपकी क्यों नहीं करो तो दुनिया अगर सब विवाह करता है हमारे लिए क्या आप हो गई थी आपको तब भगवान ने बताया कि जैसे भक्तों के लिए सब करने की जरूरत नहीं है तुम्हारे जैसे लोगों को इस मायाजाल में करने की क्या जरूरत है इसलिए हम तुमको बचाने के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि तुमको हम माया से बचा करके रखें इसलिए हमने तुमको वहां से रक्षा की ये सब बताया और उसी मार्ग की जो बनाने फिर पुरुषों के लिए स्त्रियों की निंदा कि मैंने पुरुष लोग जो स्त्री आसक्ति में जो करते हैं उसका तो वर्णन किया भगवान ने अब देखो स्वयं तो सीता जी के वियोग में दुखी भगवान रोते हैं तो ये कहते हैं कि देखो जब भगवान को भी स्त्री विवाह हो पुरुष का वियोग हो रोना पड़ता है जब भगवान का भी रोना पड़ता है तो उसका अर्थ ये नहीं कि भगवान को मात्र को गंभीर होने लगे चलो ये नहीं भगवान का कोई इस प्रकार की मतलब दिखा करके अपने लोगों को सावधान किया बिल्कुल के मन भगत बढ़ाई जो वैराग्यमान व्यक्ति थे उन लोगों का वैराग्य दर किया भगवान ने लीला दिखा करके तो देखो व्यस्त होकर के जीवन श्रेष्ठ जीवन वैराग्य का जीवन है इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए ये भगवान ने दिखाया नायक को ये बताया कहा कि हमारे भी चरित्र से तुम ये शिक्षा दो कि देखो ये जीवन जो है आसक्तियों का जीवन कितना बंधन और दुखदायी कितना जीवन है उससे तुम एक बार बच गए तो हमेशा के लिए बच गए नहीं तो तुम्हें रोज रोज का रोना तुमको रहता इसलिए छुटकारा दिला ये सब समझाया भगवान ने फिर भारत जी ने वहीं पर भगवान से भगवान मांगा कि आपका नाम ऐसे कृपालु दयालु है आपका नाम सब नामों से जितना सबसे श्रेष्ठ हो राम नाम सब नाम के अधिकार हो ही नाथ अज खग जन अधिकार इस प्रकार से वरदान मांगा तो भगवान ने वरदान दिया तो राम नाम सब नामों से श्रेष्ठ नाम है ये वही नारद जी के वरदान का कारण से हुआ फिर वही तो नारद जी ने उनसे भगवान से संतों संतों के लक्षण पूछे वो सब भगवान ने वर्णन किए और वो सब वर्णन भगवान ने बड़ी प्रसन्नता के साथ किया यहाँ पर नारद जी के सामने रोज हो नहीं थे और न शिकायत से नारद जी से कन्या ने साथ दे दिया और उसके कारण हमें ये करना पड़ा अब जो साथ दे दिया है तो नहीं करते भगवान तो देखो तुम्हारी वजह से हमको ये करना पड़ा झगड़ा करते हैं तो महाराज जी से कुछ भी बड़े प्रसन्नतापूर्वक आपने अच्छा किया तो महाराज मोह दूर हो गया और ये सब लीला भगवान जो है इस प्रकार से करते प्रभु महाराज संवाद कही ये कहा और उसके बाद प्रसन्नता पूर्वक जब आगे भगवान चले इस संवाद की ओर तब मारे को मिलन हुआ तब आगे पर्वत के ऊपर सुग्रीव बात कर रहे थे तो सुग्रीव डरे कि पता नहीं प्रेम जो आ रहे हैं बड़े वीर दिखाई देते हैं कहीं बाल के भेजे हुए न हो तो सुग्रीव ने हनुमान को भेजा का पता लगा करके आया हनुमान जी जब भगवान से मिले आकर के तब वो पहचान गए हनुमान जी के तो भगवान ही आ गए हैं तो उनको अपनी पीठ से लेकर के फिर पर्वत के ऊपर चले सुग्रीव के पास पहुंचे फिर सुग्रीव मिटाई और भगवान राम की और सुग्रीव की मित्रता उन्होंने कराई वही सुग्री ने सब बताया उनको कि देखो जी सीता जी यहाँ से रावण ले गया है तो वो सब यहाँ पर छोड़ गई जो वो दस वगैरह उन्होंने छोड़े थे तो वो सब यहाँ पड़े हुए हैं और दिखाए तो आभूषण इत्यादि दस रात जब उसने दिखाए तो भगवान ने पहचान लिया उनको कि हाँ यही है फिर अब ये भी समझ लिया भगवान ने कि इनकी सहायता से रावण को मारना है इसलिए सुग्रीव से मित्रता की और सुग्रीव का जो संकट था दुख था कि बाल उसको परेशान किए था उसको मारने को तैयार था तो बाल से उसको सुग्रीव को बचाने के लिए वहां अब मित्रता था मित्रता से लीला वहां शुरू हुई कि भगवान राम के सुग्रीव की मित्रता मित्रता हो तो कैसे हो तो वो भी फिर वहां दिखाई दी कि जब मित्र दो मित्र हैं तो ये नहीं कि पहले दूसरा मित्र हमारी सहायता करे तब हम सहायता करेंगे तो मित्रता कोई व्यापार नहीं है मित्रता एक धर्म है इसमें पहला काम अपने है कि दूसरे मित्र की पहले सहायता हम करें और फिर जब उसके मन में उत्साह रहे तब वो हमारी सेवा करे सहायता करे तो भगवान ने ये बात दिखाई ये नहीं सुग्रीव से कहा कि तुम देखो यहाँ बैठे बाल बड़ा शक्तिशाली हम बाल के पास जाते हैं उसे सुना लेंगे सीता जी का पता लगाए ये नहीं किया पहले सुग्रीव की सहायता से और सुग्रीव की सहायता करके बाल को मार करके उसे राजा बनाया लोकदर्शन सुग्रीव मिटाई बाल प्राण कर भंग और फिर बाल को लाया और सुग्रीव को राजा बनाया सुग्रीव जब वहां पर राजा बन गया तो कपी के लत कर कपी के माना सुग्रीव को सुग्रीव का तरह करवा दिया और पर्वत पर शैल प्रदर्शन भाया और उसके बाद भगवान जी वहीं पर प्रदर्शन पर्वत था वहां पर ठहर गए वर्षा ऋतु थी तो तब तक कहा कि अभी वर्षा ऋतु में तुम तो लोग सुग्रीव अपने व्यवस्था बना लें अब राजा नया राजा हुआ है अपने राजभवन की घर की राज्य की देखभाल जैसे कुछ करनी है वो सब कर ले बहुत दिनों दिन से मारा मारा खड़ा है बहुत परेशान है घायल भी है दुखी भी है राज्य सुख प्राप्त करके थोड़ा सुखी हो जाएगा इसके लिए सुख सुख देगी इधर बरसा रखती उसका समय काटना था तो भगवान पर्वत पर जात बात करने लगे तो बरसा और वहाँ पर क्या हुआ तो बरने बरसा सरबहर राम हो सुखद प्रास बस उसके बाद फिर वहीं पर जैसे तुलसीदास जी ने वर्णन किया है वर्षा का वर्णन किया फिर सर्विस का वर्णन किया अब वर्षा इस तरह से वर्षा आई और चारों पानी पानी हो गया सब रास्ते रास्ते बंद हो गए चलना फिरना बंद हो गया सब घास तुमको